राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम हमारे मित्र मधुपंत द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी बच्चों ये कहानी है रामलाल की रामलाल फल बेचा करता था वो एक ठेले पर तरह तरह के फल रखता और फिर आवाज लगा लगाकर फल बेचता केले लो अमरूद लो संतरा लो रामलाल बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम करता था वो खूब अच्छी तरह देखकर फल लेता और उसे अच्छे फलों की बहुत पहचान थी पता है वो अच्छे फलों की पहचान कैसे करता था अरे भाई अपनी नाक से फलों को सूंघता और फौरन पहचान लेता कि कौन सा फल अच्छा है और कौन सा खराब कभी कभी वो फलों को चख कर भी देखता था पता है वो फलों को क्यों चखता था इसलिए कि फलों के स्वाद का पता लग जाए बच्चों एक दिन की बात है रामलाल ने जब अपने सारे फल बेच लिए तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया तभी उसकी आंख कान नाक और जीभ में होने लगी बातें सबसे पहले आंख बोली मैं तुम सबसे ज्यादा अच्छी हूँ मैं सबसे ज्यादा जरूरत की चीज जो हूँ इसीलिए तो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फिर रामलाल की दोनों आंखें गाने लगी हम आंखें कितनी प्यारी हैं कितनी प्यारी है हम तुम सब है हम कितनी प्यारी है सभी को राह दिखाती सुबह शाम का भेद बताती दिन आँखों के रहते कैसे और दौड़ते कैसे खेल खिलौने बाग बगीचे हाथी घोड़े दिखते कैसे हम आखे कितनी की ये बात सुनकर नाक से चुप न रहा गया वो अपनी आवाज में बोली आई आख आख के बिना तो काम चल भी सकता है पर बिना सुंदरता भी तो मैं बढ़ाती हूँ <laughs> अगर मैं ना होती तो लोग कितने बदसूरत लगते इतना कहकर उसने गाना शुरू किया मैं चेहरे के बीच कहानी लेते <laughs> तो नाक की ये बातें भला जीव को कैसे सहन होती वो फौरन बोली जरा सोचो जीव के बिना किसी का थोड़ी देर भी काम चल पाएगा असल में मेरे बिना कोई नहीं रह सकता मैं ही खाते समय काम आती हूँ हम्म, तरह तरह के स्वाद बताती हूँ मैं ही बोलने में मदद करती हूँ मेरे बिना न आदमी बोल पाएगा और न हर तरह के स्वाद ही बता पाएगा हा हा हा हा हा। अब तुम ही बताओ क्या बिना भोजन के कोई रह सकता है क्या बिना बोले आज तक कोई रह सका है हम्म इतना कहकर जीव ने शुरू किया अपना गाना कर ली तुमने अपनी बात मुझे न दे सकते पर मात कर ली तुमने अपनी बात जीभ बिना तुम क्या बोलोगे अपना मुंह कैसे खोलोगे कर ली तुमने अपनी बात मुझे न दे सकते पर मात नए नए मैं स्वाद चखाती भोजन का स्वाद बढ़ाती खट्टा मीठा खट्टा मीठा और चरपरा तीखा भोजन तुम्हें बताती ये जुबान ही अगर न होती भाई ये जुबान ही अगर न होती अब कान जो इतनी देर से इन सब की बातें सुन रहा था तुरंत बोला अगर मैं न होता तो तुम सब एक दूसरे की बात सुनते कैसे बिना कानों के तो सारी दुनिया ही बेकार हो जाती तुम सब लाख बोलते पर मेरे बिना किसी के कानों पर जू ही न रेंगती <laughs> और ये कहकर कान ने गाना शुरू किया अरे मैं हूं कान मैं हूं कान मैं हूं कान मैं हूं कान सदा सभी के आता कान मैं सुनवाता हूँ आवाजें टन टन खन खन गाजे बाजे अगर नहीं ये होते कान तो दुनिया हो जाती बेकान कोई भी आवाज न सुनते और बहरे के बहरे रह जाते इस तरह से बातें करते करते आंख कान नाक और जीभ में हो गई लड़ाई सभी अपने को दूसरे से बड़ा बताने लगे अब आंख बोली ठीक है मैं अपना काम बंद कर देती हूँ फिर देखूं कैसे चलता है रामलाल का काम तो आंख ने देखना बंद कर दिया रामलाल घबराकर बोला नहीं भाई आंख तुम अपना काम करो मेरा तो तुम्हारे बिना जरा भी काम नहीं चलेगा तभी नाक बोल उठी अच्छा तो मैं भी अपना काम करना बंद करती हूँ ये कहकर नाक ने कर दिया अपना काम बंद यानी सांस लेना भी बंद कर दिया और सूंघना भी अब रामलाल बोल उठा नहीं भाई नाक मेरा काम तो पल भर भी तुम्हारे बिना नहीं चलेगा बिना सांस लिए कोई नहीं रह सकता मुंह से सांस लेने में तो धूल मिट्टी अंदर चली जाती है जबकि नाक के बाल धूल मिट्टी को रोक देते हैं इसके अलावा मैं तो सूंग सूंग कर ही फल लेता हूँ मेरा काम तुम्हारे बिना कभी नहीं चलेगा अब जीप बोली ठीक है तो लो मैंने कर ली अपनी जीप बंद रामलाल ये सुनकर फिर बोला अरे भाई जीप के बिना तो बातचीत ही नहीं हो सकेगी मैं कैसे अपना काम करूंगा नहीं भाई मेरा तो जुबान के बिना रहना मुश्किल है अब ये सुनकर कान बोल उठा अच्छा भाई मैं ही सबसे छोटा हूं तो लो मैंने अपना काम करना बंद कर दिया अब मैं सुनूंगा ही नहीं रामलाल ये सुनकर बोला भाई कान मेरा काम तो तुम्हारे बिना भी नहीं चल सकता बिना आवाज के सुने कोई रह भी सकता है और फिर रामलाल ने कहा देखो भाई तुम चारों ही तो मेरे साथ ही हो बिना आंख के मैं अंधा हो जाऊंगा बिना नाक के नकटा बिना जीभ के गूंगा बन जाऊंगा और बिना कान के बहरा नहीं भाई नहीं तुम चारों की ही मुझे जरूरत है सबका अपना अपना काम जरूरी है लड़ाई को छोड़कर सब मिलजुल कर रहो तो कितना अच्छा हो <laughs> अब रामलाल की ये बात आंख नाक जीव और कान की समझ में आ गई और फिर वे चारों बोले The de Guarantã. प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम